कल्पना का संतुलन यही है जो हमारा कल्पना चेष्टा संतुलन होने से कर्म का तंत्रता संतुलित होता है कर्म का तंत्रता नहीं तो संतुलित नहीं हो उसका क्या प्रमाण अभी हम एक गांव गए थे पढ़ो करना एक गांव वहां के लोग भी हम उपस्थित हैं तो वहां वहां जाने पर ये अनुभव हुआ वहां जब ज्यादा से ज्यादा जो योग्य व्यक्तियों के पास गाड़ी घोड़ा हो होने से क्या हुआ वहां कुल का जमीन जितना है उससे ज्यादा हो गए चौगुना पांच गुना दस गुना बीस गुना हो गए तो उसको यदि नियंत्रित होना है गांव की जरूरत को पहचानना पड़ेगा हर गांव हर मोहल्ला गांव वाले की आवश्यकता को पहचानना पड़ेगा उसके पहले हर परिवार की आवश्यकता को पहचानना पड़ेगा उसके पहले हर व्यक्ति में समाधान संपन्नता पहचानना पड़ेगा नहीं तो ये होने वाला नहीं है ये ये जो प्रक्रिया है ये होने वाला नहीं ये इसके लिए इतना ज्यादा लंबा कार्यक्रम है हर व्यक्ति में समाधान को पहचान होने की पहचान होना चाहिए और उसके बाद हर परिवार में समाधान समझने पहचानने की योग्य व्यवस्था चाहिए उसके बाद जो है ना हम एक गांव में अथवा मोहल्ला की आवश्यकता क्या है उसको पहचान यदि इस बीच में पहचानना चाहेंगे कोई नहीं पहचान उसका जो उदाहरण है हमारे यहाँ एक संत कुमार शंभूराम की एक सज्जन थे उनका एक स्वतंत्रता से से है उनके पर उनके साथ हमारा काफी संपर्क रहा उन्होंने काफी आ, हाँ, उन्होंने हमारे साथ काफी रहने की भी कोशिश किया समझने की भी कोशिश उनके उनके सामने आई ये कि व्यवस्था सहसा हुआ सुविधा मैंने उठा हो वो राजीव गांधी से बात की वो राजीव गांधी सब जगह ग्राम पंचायत स्थापित कर दिया ग्राम पंचायत ने स्थापित किया स्वायत्त होने के वो भी क्या हो गया है सुरक्षा काम हो हर हर ग्राम पंचायत में इतना ही है इतना देव इतना देव इतना देव है लंबा होता है आप स्वयं तो देखते हैं तो उसी प्रकार से हर हर वस्तु केवल प्रक्रिया से ठीक होगा ऐसा नहीं समझदारी से ठीक होगा अभी ज्यादा से ज्यादा लोग सोच रहे हैं प्रक्रिया से ठीक होगा प्रक्रिया तब ठीक होगी जब समझदारी ठीक होगी ये इसको हम छोड़ रखते हैं हम तिलांजलि श्रद्धांजलि दोनों दे रखते हैं समझना कुछ नहीं अभी जो है ना राजनीति राजनीति राजनीति के घराने में हम देखता हूँ तो इनको समझना पड़ता है इनको प्रक्रिय करना हमें हम छत्तीसगढ़ तो में भी हमने प्रस्ताव रखे देखा वो वहां के वहां के सक्षम मंत्री लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो शिक्षा का परिवर्तन है क्षेत्र विकास मूल्य शिक्षा का वो तो संविधान में सभा में उसको पारित करा वो कहते हैं ये प्रक्रिया हो ऐसा कहते समय का समय प्रकृति नहीं ठीक होगा समय से संयोग से मुख्यमंत्री को उन्होंने लगा दिए हैं शिक्षा विदों ठीक है अभी बताया था आपको वहाँ तीनों भाग हैं तो व्यवस्था भाग एक एक बहुत बड़ी बड़ी काम है और वह प्रशिक्षण भाग एक अं- अं- शोध शोध विचार का भाग इन तीनों मिलकर के नहीं चल रहे वहाँ वो क्या परिणाम निकलेगा भाग आगे भविष्य में है हम आज इसका परिणाम नहीं फिर से वो समझते हैं जिम्मेवार होते हैं तो प्रोविडेंट होकर समझते हैं सुनते हैं चले जाते हैं उससे प्रयोजन नहीं होता ठीक है यदि समझना ही पड़ेगा प्रमाणित करना पड़ेगा समझना पड़ेगा प्रमाणित करना पड़ेगा तभी प्रयोजन है नहीं तो इसमें कोई प्रयोजन नहीं और बाकी बातों में अपना प्रयोजन आ चुका बाकी प्रयोजन बाकी प्रयास है मानव जाति का प्रयास है अपराध अपराध प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती जा रही है इसमें कहाँ है वृद्धि वृद्धि भी हो जाए ठीक है वैसे ही आदमी रहे तो धरती मर हो गए पॉल्यूशन छा गए अपराध प्रवृत्तियां बढ़ गई उसके लिए क्या किया इस इसको किसके साथ रोया जाए रोया जाए सहसा जाए ध्यान किया जाए उसको सोचना पड़ेगा अच्छी तरह से करना पड़ेगा ये तो को ध्यान में लाने पर यही निकलता है तो हमारे अनुभव से अनुभव हमारा अनुभव हमारा के प्रमाण इन दोनों से यही निकलता है आदमी को समझदार होना पड़ेगा समझदार होने से समाधान बनता है समाधान समाधान संपन्न होने की बाद समर्थ होना सहज होता है इतने चीज को हम कर्माभ्यास का पूर्वक विचाराभ्यास पूर्वक कर्म कार्याभ्यास पूर्वक व्यवहाराभ्यास पूर्वक प्रमाण ठीक है ये प्रमाण संपन्न है ये भाग ये प्रमाणित होता है इसको तो हर व्यक्ति प्रमाणित कर सकते हैं हर परिवार कर सकते हैं जरूरत होगा इच्छा हो तो इच्छा नहीं हो तो नहीं करें ठीक है इसके इसके बारे में अभी अब बैठे हैं रणसिंह जी इनके यहाँ हम लोगों ने प्रयोग किया एक अच्छे दो चार गांव के बीच में बच्चों का एक स्कूल है वो स्कूल में बच्चों को इसको करने की प्रबोधित करने की कोशिश किया शिक्षा में भी तो उससे बच्चों में मुखरण भी आ गया मुखरण आने से उसके बाद उनका अभिभावकों को बुला करके हम पूछा तो वो कहते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई ये बच्चे समझदार होकर के आपके घर में काम करना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो उसमें से नब्बे नब्बे प्रतिशत लोग तो एक है नौकरी चाहिए दस प्रतिशत एक है नौकरी भी चाहिए और तो जरूरत पड़ने पर घर का काम भी देखना चाहिए ऐसा समझ में आएंगे सौ परिवार के विषय में बीच में हम सोच समय के वहाँ का करोड़ तो पैसा बना अब उसके बाद अभी एक रायपुर के पास जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं अशोक नाम की उसके पास दो किलोमीटर में एक गांव है उसका नाम है मुर्मू नाम वो छत्तीसगढ़ की भाषा उसका जो उसका अर्थ है जहाँ दूध नहीं जमता है वहाँ है होगा इतना अच्छा जमीन पर वो गाँव उससे उससे उससे जगह के बच्चे सब आदिवासी बच्चे सब आदिवासी बच्चे उन बच्चों से बच्चों का परिच है ये हमारे यहाँ है अंजनी भगवान उनके श्रीमती जाए जाती है वहाँ उन बच्चों के बीच वो तो बच्चे जो है वो बेल बजने के पहले एक घंटा पहले रखोते रहते हैं किसको किसको श्रीमती भगवत रहते हैं वहां जाने के बाद ये समझाती है समझाने पर जैसा अचौटी में मुखरना है वैसे ही आएगा उसका एक मिसाल तो क्या हुआ एक दिन वहाँ एरिया नाम के एक अधिकारी कहते हैं स्कूल में एडीए जा करके तुम क्या सीखना चाहते हैं कुछ पूछना राम को न्याय दिखा सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं है एडीए का कहते उनका एक केस से बात करे गए परिषद हुआ उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वो बताए वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये कलेक्टर को बताए कलेक्टर एक है उस स्कूल को अटेंड करके वहां वैसे ही पूछा क्या सीखना चाहते हमको न्याय सीखा बच्चे तुम तुम न्याय सीखे हो हम सीखे हैं न्याय करते हो करते हैं किसके साथ हमारे भाई के साथ बहन के साथ मित्रों के साथ सबके साथ क्यों नहीं करता है इतना हम सीखे नहीं है तुमको सीखना थोड़ा छोटे जाए ऐसा मुखर रहा उससे वो चकमक किया उसके बाद तीन हजार से अधिक बताओ तीन हजार से अधिक थे ना वहां तो कहाँ कहाँ कौन गाँव कहाँ कहाँ शिविर लगवाए थे गंगा में के सकाए थे कहाँ लगाए हाँ, दुर्ग जिले दुर्ग जिले में तीन हजार से अधिक शिक्षकों को उन्होंने शिविर कोशिश कराया उसके बाद शिक्षा विभाग कान शिक्षा विभाग के कान में कुछ शिक्षा विभाग जब स्टूडेंट चेकअप किया तो अभी जो हो रहा है आपको पता है ऐसा बात इस तरह से जो है ना तो कोई खास चर्चा करने की जरूरत नहीं है हमारे हमारे प्रवृत्ति के ऊपर ये निर्भर है हम सुधरें चाहे बिगड़े हर व्यक्ति की प्रवृत्ति पर हर व्यक्ति स्वतंत्र स्टंट है कल्पना चेता कर्म स्वतंत्रता क्या था हर व्यक्ति स्वतंत्र हर नाना भी स्वतंत्र है हर बच्चे बड़े बूढ़े स्वतंत्र ठीक है ना इसकी साम्यता कहां से मिलेगी समझदारी से मिलेगी समाधान से ही मिलेगी सभी सभी का यदि साम्यता बनती है समाधान से बनता है समाधान के लिए समझदारी है बच्चे को वो समझदारी को हमें शिक्षा में जीतने प्रस्तुत करने की कोशिश ये बात तो ठीक है हरिया हरिया और कोई बात नहीं